direito. Nossa. Que é um fatigão. Né? Abraço, uma marca. Uma केन खेत होगा जो हाँ दुर्वासा आया ज्ञान गर्व दुर्वासा आया माता देव नरेंद्र धाया अगर चंद्र पाठ पुराया नेम झेल गुरु ने बधाया तपस्या करी घना नर फिरिया कर्ण पांडु पार उतरिया सतरे का हिमालय गड़िया तो सहदे जाय साहिब जी मिलिया थे बला वो कूता माई भूख पहली मैंने को कमाई इसड़ी भक्ति कमाया कोई ते राज करो वतना पर कूता कह कूता कह मैं होती कंवारी सास भगियो में मिमता मारी मिमता मारी गुरु में जरनाज हारी राजा पिंड कर सिरजी नारी हूं जो ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी को कूता कह गुरु तपस्या हमारी तपस्या करी घनादर तिरिया करनेरा पांडु पार उतरिया सतरे का हिमालय गड़िया तो सहन दे जाए शायद यूं जिष्णु जी कहे हे बुलाओ जेठण पोलू भूपेली को कमाई इसड़ी भक्ति कमाया कोई राज करो हतनापुर मोई किने पौंडो ने जो को गुरु महाराज बुझे कि ऐसी कहीं कमाई करी जो को थाने हतनापुर राज आयो तो जेठड़ जी कहे अगले बुम में रगेश्वर तो आसन हिडक मारो रियो अपंबर नववार में नरहर आयो और टूटा राम जनो हतनापुर आयो हुन जो ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो जेठड़ कहे गुरु तपस्या हमारी कहीं कहीं करिया नौ नौ कहीं करिया નરવર ના નરવર નરવર નો તીર્થ મતલબ કર્યા हम्म, तीर्थ करिया हम्म, नव बार में नर हर आयो टूटा राम जनो में हतनापुर आयो आयो, हुन जो ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो जेठल कहे गुरु तपस्या हमारी हम्म, तपस्या करी घना नर फिरिया कन्नड़ा पांडु पार उतरिया सतरे का हिमालय गड़िया तो सहदे जाय साहिब जी बढ़िया अर्जुन जी ने कहे थे बोलावो अर्जुन पांडु भोप्या लीली को कमाई ईश्वरी भक्ति कमाया को ही ते राज करो अतनापुर मोहि अर्जुन जी कहे बारह वर्ष में बनवास रहो अन्न ही खायो में पौन भकियो राजा जिन घर जाग रसायो पांच बाज में पुरसे ने लायो बूढ़ो बिरो में स्वर्गो से आयो दिन बाजण में मैं नहीं कहवायो हुन जो बात है हमें आपने कहो पाचो कहूँ आपने हम्म। बाज कहीं के राजा जिन करे करे जाग बारे बस है जो को राजा है जो अन्न नहीं खायो अर्जन बारे बस तुम चे हुई भाई आज अन्न खावनो बारे बस पूरा होगा उन वक्त में राजा जिन करे घरे है जो जाग करियो जागरो मतलब कहीं जीवन कर, जीवन करियो जो आप कहीं करियो और, तो- और तो खो करा ना पता है पन्ना तना बना पांच पन्ना तना उठो पुरुषान लेना आया भाई आज अंदर कर अंदर करो उन वक्त में भगवान दे क्योंकि सतर आ देना तो आप बूढ़ा ब्राह्मण वे रूटे आया आने आशी भाषा करिया कि आओ बाप जी बैठो आज मारो नेम अच्छो है जो मैं राजपूत जमा जमारो पहली ब्राह्मण ने जिमा आज तो पचे जिमो तो ठीक रहा आप भूखा हो कहा भाई भूखो जो तो घर करने आयो एक पना कर दी हम्म। बड़ा जिम का दूजोड़ी भी करा धापा को नहीं कहा धापा को नहीं पड़े तो भाई जिम का अपन तीर निकली मैं अर्जुन एक दूजोड़ी बढ़ दी वही खाएगा उन भक्त में आप कहीं कहो अर्जुन जी के हाँ सब खा जाए को उन भक्त में कहो अर्जुन जी से चार भुजा दान दर्शन दिया कि आप मारा बहन नहीं बन जाओ हमारी बहन हो रहा जो आपने बना साड़ो कर दिया हम्म, साड़ो कर दियो उठे साड़ो खा जाएगा जो ना अर्जुन जी कही उठे बूढ़ो बिरम सरगुआ से आयो दिन ही बात मैं नहीं ही कवायो हूं जो बिरमा बिरम बिचारी अर्जुन कह गुरु तपस्या हमारी अच्छा हमें बिहेवरी कहूँ भीम जी क्या है भीम जी ने करू महाराज बुझे थे कहीं काम करियो भीम जी क्या तेता युग में काया सीनी और नवा युग में बंदोबस्त की नहीं और भीमो जोत बलवंती भारी मैं ईद को सहन जोरा और सारी हूं जो ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो भीम के है गुरु तपस्या हमारी तपस्या करी घना दर्द लिया कनेरा पालू बार उतरिया सदरे का हिमालय गड़िया तो सेंधे जाए साहिब जी मिलिया तो सेंधे जी के फिर कहीं काम करियो बारह वर्ष में पुस्तक पढ़िया गोमंद गुण गाया बूझियो बिना मैं कदे ही नहीं कहो बूझ लियो तो मैं पहली आन बूझ लियो मैंने मोर तो मैं भाइयों बैर नहीं मोर दे दियो मैंने नहीं बूझियो तो भाइयों नहीं मोर दियो को बूझियो बिना मैं कदे ही नहीं कहो हृदय ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो सहन लेके है गुरु तपस्या हमारी तपस्या करी घड़ाल उतरिया कनेरा पौलू बार उतरिया सदरे का हिमालय गड़िया तो सहन ले जाए साहिब जी उमड़िया नुकड़े ने कह धू नुकड़ो हुक्म उतारो को नहीं मात का जीरो राधा पीर रवण दो ही मात का अल्पूता अच्छा पांडु ने दो रानी हाँ सर तो आप लोग क्यों દોરાણી રાજા પિંડ કઈ કર્યો કે દિન બધી પછી ભોજન નહીં કરતા એક દિન રાજા પિંડ શિરકાર ગયા દિન બધી આપ આયા માજ કને દબાગ દીવડો કિનો બચંદ્ર હોયો આ ભણો મેં કહું કે એ કર્ણ નામ ब्राह्मण हो કર્ણ નામ ब्राह्मण ने માતા પિતા कुछ नहीं वो उद्यान में फिरतो उद्यान में फिरतो फिरतो ने उन्हें एक बेमाता तक छड़ गई तो कहे तू कौन है तो बे माता तो कहीं करे कि मैं लेख लिख हम्म। ये भी बात है तो ऐसा लेख लिखे हमारे कोई ऐसा है ही नहीं कि कोई भाई नहीं बन नहीं बेटा नहीं लहन नहीं मारा ऐसा कहीं कर्म है जब मैं उद्यान में फिर हमारे कोई नहीं है कि भाई ऐसा अपना अपना कर्म है एक मारे बेटा है, है चार जो अपना अपना नारा नारा कर्म है जो थारा कर्म ऐसा ही है भाई तो क्या तो खरी कि कर्म ऐडा कहीं है थारा है भाई लेख क्यों पूछे थारा एक लड़की धोबी लड़की उल्लेख है कि मैं मन मारे પીરું પણ મારે ધોબી લડકીનો ભાઈ લે લીક્યો લે કાઢો તો કટે હે કે तोमावती नंगरी है उठे एक धोबीरो घर है उन्हें एक लड़की है वहां लड़की रहे थारे लेख लग लाख रुपये माँ बाप ने बेटी दो ठीक बे माता तो आप अलोप वो गई हो फिर तो तो तोमा तेरी नगरी भी जगी हो जान तो पूछ चुकट दो ब्याह घर है नहीं कि भाई एक घर है गाँव और हेड़ जो दो माँ बाप बेटी है वोट तो दो तीन दिन हिसाब दे कि हाँ है तो परी उन्हें पिता तो बेगो आप मजूरी मारते जाते रहे वहाँ छोरी कहीं दे बरी बार बरी जो को वहाँ रोटी बना लो आप पिता ने ले जाए देख या दो तीन दिन देखियो देख रहे हिसाब दे कि हाँ ठीक है तो एक दिन छोरी ने पकड़ पड़ी अरे उन्होंने बोले चक्कू चार है जो गोबा दे पड़ा अरे एक पेटी गड़ा लाओ लकड़ पेटी गिराना नंदी बैठी नंदी बैठी हमें माने कट पनी थी तो एक कोई दकर शहर हो बड़ो भारी उन शहर से मोए वहां बैठी बैठी की थे एक ब्राह्मण अरे एक महाजन बाल बच्चों ने तो वे समझ ने रोज ना आल आल निश कहे कि भगवान माने भी कोई बाल बच्चों हो तो गया तो तो ये आदर करते जरा ब्राह्मण बोलिया सेठ बोलिया के वो देख भाई एक बाप बेटी कहीं हमें चीज वहां मारी है कि ब्रह्म बोलियो सामो ही है जो कुमारी है तो ईश्वरी कुदरत ऐडी हुई उन्हें हवा से उन्हें गाँव मिल गया और बच्ची मोही रमे तो वो कहा बच्ची मैंने भगवान दी आप घर ले गयो और अच्छा उन्हें हिनान कर ब्राह्मण ने कहो अच्छा हिनान सपाड़ा कर और जो आपने भगवान दी है तो सूर्य भगवान हमें आल्लास कर जो इसके शीरा छूटे थे तो इसके बच्चे मुंड में जाते हैं तो अपने भगवान दिए पालन पोषण कर तो उसने ब्राह्मण स्नान सपाड़ा कर अरे भगवान ने सूर्य भगवान आरला करते तो उन्होंने दूध की धार उन्होंने मुंह लेना गई पर पाल करी मोटी हो गई और कर लो हुक्म फिर दो फिर दो शहर में जाओ पड़ो उठे जान पूछियो उठे बीस पच्चीस घर आके भाई अटो तो कोई ब्राह्मणा घर है कहो भाई घरे बीस पच्चीस घर है तो कुमार रात बस हो रहे उन ब्राह्मण ने घरे जाओ पड़ो उठे जान वो रात बस हो रही हो सुबह बैठ उन डुकोन ब्राह्मण पूछे वे दो जने घर में एक बार लड़के कि आप लोग हम कि मारो फलाना फलाना फलाना था आप कि मारे कोई माँ ने बाप ने भाई बंधु कुछ नहीं है तो फिर हमने कि अपन लड़की पनाह दो अपन खने राख तो मारी लड़की आपने पनाह दूं थे मारे खने रह जाओ को नहीं कहा अंदर दो हो क्या सही जे भंधे लड़ाई जे पना दी लड़की रह गो उठे तो ब्रह्म ने घर में ठीक ठाक हो यूं करो अपना ब्रह्मण जमा जमारो है जो को गांव में फिर वो गुड़ देने अपना फिरने आ जाओ और थे बैठा मोहन करण मारी है जो सेवा करो गोलो दे दियो एक दिन उन्हें सची खेवा बे माता रोड कहती है कि थारे तो भी में लेख लिखियोड़ा है इन्हें कटे हो बंदा कोने आज जाऊं मैं गोलो उठी खड़ी हो उठी खड़ी हो देख बे माता बैठी जा दे कॉमरी गुरा में कहती लेख लिखूंगे के के भाई हूं तो हिरण झूठा झूठा डाकन तो डाकन है तो है जो को बे माता नहीं है क्यों नहीं के का दिन घर है तो भी लड़कियों ले के मतलब ब्रो में लट जो भाई मारे मार मारे कोमड़ी क्यों ब्रो में है ठोस है पर बे गोबा दिया जो हम ले जे तो बे गोबा है दिया उन्हें लड़की लड़के तो दवा के ठहरियो किने गोबा कहीं था जनो तो है बात दो भी लड़की नहीं जनो दूजी है और आयो पाछो आय और निंगे दास ते करी तो आदमी में तो कोई खसानी बात कोई चार ही गोबा लगो प्रभात रे हो है प्रभात उठ और वो नमस्कार करें कह ये हमारी माता है अरे बनाओ हाँ, मैं तो वो तो आपने बैर में को करता हम्म। ये हमारा धर्मी बेटी है हम्म। मैं ब्राह्मण हूँ महाराज हाथ ही जन्म डूबगा और उद्यान में जान मारा फिर डूबो तो वह दो भी लड़की आपने क्यों नारे निकल गई हम्म। वाह है जो वो धके मारा फिर वाला लाल नेपाल भाई मारा फिर डूब मारा फिर डूबी है तो बारे आगे कर एक जुग भक्ति पूरी हुई थी यूं करते कर आ कहीं करिए ब्राह्मणी है मा धोबी लड़की या फूट में ऋणी वेगी पातिंद्रा फिरिया बन आत ना आवे लारे बैठ जावे तब सीधे लाए तो उन्हें कहीं उन्हें भक्ति करी तो करने ऐसी करी कोई डाबे ने कोई डिगे उन्हें मैं कॉलर मैं चिड़िया माड़ा गाल दिया तो एक दिन वे चिड़िया है जब चिड़िया तो सुबह वक्त में सुबह करने जावे और एक दिन कहीं करियो एक दिन चिड़ो तो आ गई और चिड़ी बाहर रह गई ऐसे दंदुकार आ गई सो सुबह चिड़ो आए चिड़ी आई चिड़ो के रोड मो आए आएगी के तो मैं तेरे को मार दूंगा अरे क्यों मारे मने के रात कटे रही तू के मुंह तो रात दिया बूढ़ी बेगी जो मन ना दो कोई नहीं जब मैं नहीं आऊँ तो तू रातें रही कटे अरे के मैं कटे नहीं रही यार मैं नर ना उड़ूँ करे बात नहीं बैठी तो कटे बैठी के मैं आमली बात बैठी के आमली में कुंगो वैनी नर झूठ क्यों बोले कह रहे तो तो जे तू क्यों तड़े मने चिड़ा मैं जे रात कटी रही हूं कई नरना हूं बात ही करी वे तो मने इन राजा इन कर्णमाल दी मन शराब लगे के कर्णमाल बोली ओ हो हो हो मेरा शराब में ऐसा हरामी कर्णमाल आले हाल दे के मारे मोह रहना और मने शराब देनो वहाँ चिड़ी क्या कर्णमाल ठाणे जेड़ो कोई दुष्ट है ही नहीं तो मुँह कहीं दुष्ट हूँ કે તું દુષ્ટ આટલો હે કે લડકીને પની जियो और आधे घिया पूर ने हिणी वेगी और थने उन्हों शराब हाथ ही बहुत हूँ डूब गो कितनी भक्ति कर तो हमें કે जिन दिन थू हिरण में आ हिरनी और पांचों संदोक करे तो थारी कोई मुख मुख सुवे नहीं वे को नहीं नहीं तो अठीने कहीं राजा पिंड एक दिन सिरकार आया राजा पिंड सिरकार आया कि बे माता राजा पिंड ने मिले जी तो राजा पिंड तो ओळखता नमस्कार करियो राजा पिंड कहीं पूजना करेगा आप भी माता हो मारे आ घोड़ी है रूप घोड़ी पीछे रोकण लाए के राजा पूछो ही मैं दिखता तो ही कि आप पीछे एक बहुत लावे ला तो सूर्य जी किरण नहीं किरण एक वेला हम्म। हाँ ठीक है पर आइन पिछोरे मत आप छड़ दो मत हम्म। घोड़ो पहुंच पर जवान वे हम्म। क्यों जे घो पिछेरे किन घोड़े माते छड़ जाओ तो उत्तर दिशा शिकार जा जो मत और जो उत्तर दिशा शिकार जाता रहो तो मृग ने गोली बांधो मती हम्म। और जो मृग ने गोली बांधो तो मत दे जाजो मती राजा है तो सुन दियो बाप रे लो पी राजा राजा ने खाजान भूल गा हम्म। गोली तो किशोर ने बहुत लाई हाँ एक दिन आप है गया सरकार कई दिन या वो घोड़ो तैयार हुए देखे घोड़ो ऐसा हुए को तैयार मैं दिनों में आई गयो आज घोड़े में तैयार सरकार कर लो तो उन्हीं घोड़े में तो छड़िया है ભગવાન રાજા પોતાને ઠાવ राजा કૌલ करे આ सवारी करे હું માતા સદીવો नहीं હું ठा तो मैंने पाले गुण राजा की नहीं पाले रहे तो आप घोड़े माते सवारी करेगा आज मैं शिकार जाऊँ कह राजा माफ करो कहने नहीं नहीं मैंने कोई पालने की जरूरत नहीं है मेरा घोड़ो है मैं आदान में आएगा मैं शिकार जाऊँगा तो आप शिकार गया उत्तर दिशा ही गया उत्तर दिशा गया है शिकार वाले घोड़े माते छठ रहे अटी नो वो कर्ण वाला तो हिरण यो है રાજાને એક એ બારે કોશી દોલ માથે આલ હુકમ સંધુક માથે આવે એ રણ બારે કોશી આ દોલ માદાન સંધુક માથે આવે હણ મુગત રાજા બોણ છૂટો કતમ તો એને શરાબ દિયો કે રાજા પણ જિન પર કે મે આયા સંધુક માથે મારુ શ્રી છૂટો તો ધાર્યું સંધિ એ મુજબ ધારુ શ્રી છૂટ ઓ માથે ગયો भाई उन भक्त भयो राजा खुशी हुए गए एक मोहण भाई एक ने मारे दो मरिया मन सुगुन हचा हुआ अब माते गयो देखे ब्राह्मण ब्राह्मण बढ़िया के वाह बात याद है अरे वहाँ कहीं पर जुलम भेगिया में कहीं राजा अज्ञान में घरे गयो दिन बद को राजा दिन बदिए पर थाल नहीं रोकता तो आप खट खट खट मैं छड़िया बता देखो राजा भूखा रह जाए तो मात का ऐसी रूपरी नादान जिन वक्त में मादगन कहे थोड़ी बारी में बैठे कोई तुम जो राजा थाल रो मैं मादगन दबाव दी मात कह क्या भूखा रह जा तो मैंने कहीं कहते मारो करना थोड़ी तुम बारी में बैठ मात का था बारी में बैठे जान सौंद रहे हो जो वक्त में राजा ने थाल दियो थाल जीम और आप हाथ दो रिया के आज दिन बद तारो ऐसा कहो आज मैं हदे थाल जीम में रहूँ दिन रहे आज दिन तारा की करो सत्य में झूठ नहीं बोलता खेव के मन दाता मैं थोड़ी माल का बारी में बैठे मैं देख रहा भूखा रह जाए तो मात का ऐसी रूप हो तो मैं दवा दियो आज मात कर मैं हम्म। अब उन्होंने पाले को मात हम्म। कर माल गया है हम्म। जा चलिया आप रसोई मुगल उठ रही नहीं तो शराब दियो उन्होंने नुकड़ो हो जोड़ो है ये रात उन रात नुकड़ो मुको नुकड़ो कहीं हाँ। आपने नुकड़ो कड़ी कहानी कहेंगे तिमराव नुकड़ा पांडु बहुबैली लिखो कमाई इसड़ी भक्ति कमाया काई के राज करो अतनापुर अतनापुर में तो नुकड़ो कहे बारह वर्ष में गुरु जी सेवा की नहीं हम्म। अरे गुरु जी मीठ चेले पर भेनी हम्म। खुशी होगा गुरु महाराज हम्म। गुरु जी मीठ चेले पर भेनी टूटा राम अथनापुर आयो हृदय ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो नुकड़ो कहे गुरु तुलसी ध्रुव तने कहे थू तेता जुग में सगत सिंगारी बीस भुजा मन कहता कंकारी अंबर बीन जेवटर थायो धूला जाकर मैं जोंबो पायो हूं जो ब्रह्मा ब्रह्म बिचारी तो द्रौपद कहे गुरु तपस्या हमारी तपस्या करी गढ़ा नर दिरिया कलेरा पाडू बाल उतरिया सदरे काज हिमालय गड़िया तो सहन दे जाए शाही को हाथ जोड़ पहुंचू भाई उबा